को भुगत लिया है और हम आप दोनों को देखे समझ गए हैं बस इतना ही फर्क है हमें इस चक्कर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी देख के समझ गए वाइफ लाइफ भी सब गलत है वाइफ नाइफ ये भी गलत है इसलिए बात तो ना वाइफ है ना नाइफ है ना लाइफ है ये बात अब समझ में आ गई इसलिए हम तो बाबा हैं अब बताओ कौन सही है गजे आप ही सही दोनों ने कह दिया मैंने आप सही हो गया ना अब हम चुके नहीं ना तो जगाने से पूछा अब तो हम चुके नहीं ना चुका कौन है तो तुम ही चुक गए क्यों तुमको चुग लिया है ना इसे तुम चुक गए हो हम क्या कर रहे किसी चिड़िया ने तुमको चुग लिया तो तुम चुग गए हमें तो कोई नहीं चुका इसलिए हम नहीं चुके हमने कहा जैसे कहते उठ जाग मुसाफिर चिड़िया ने जब चुन खेत लिया फिर पछतावे कहावत है अरे कोई छोकरी ने तुमको चुग लिया ना तब तू तो, तो बर्बाद हो ही गया खत्म बात है हमें तो कोई चुग नहीं रहा है इसलिए हम तो भाई सफल है तो फिर आप मैं क्या करूं जवान बोल रहा मैं करूं क्या हम तो सोच रहे थे अच्छा हम छकड़ी है लेकिन आप तो फंसे हैं हम समझ में आ रहा है अरे समझ में आ रहा है ना ये दहरे विरजित तद हरे परिव्रजित अब परेशान हो गए महाराज कैसा होगा और उसे छोड़ा भी ना जाए मैंने कहा वो नहीं पकड़ी है तुम पकड़ रखे हो इसे तुम छोड़ नहीं पा रहे तो ये समस्या आ जाता है स्वयं के द्वारा अविवेक से कल्पना किया हमने स्वप्नों में वस्तुओं को और यह विवेक करने के बाद भले करे अरे हम ऐसे क्यों कल्पना किए अरे वो तो हो गया तुम्हारी वासना से हुई है वही करे अवस्था द्वय कल्पना ब्रह्मणी रहित्वा इस प्रकार अवस्था द्वय की कल्पना को ब्रह्म दर्शा करके तत्व सुषुप्ति कल्पना दर्शयती उसी में सुषुप्ति कल्पना को भी दर्शा रहे सर्वे विशेषा सर्वे विषया तुला जो सभी विषय है सभी के सभी विशेष मन विषय स्थूल है और सूक्ष्म जो विषय वो भी उन सबको जागृत स्वप्न रूपा जागृत स्वप्न रूप है तान पीतवा स्वात्मनी अज्ञाति प्रबलाप्य स्वप्न भी कहते शुद्ध में नहीं अज्ञात है छिन्न स्वात्मा में वो लीन कर लेता है माया कृदस्य तथा आनंद प्राधन प्रत्य विष्णष्टि मधुर भुगति लेकिन उस अविद्यावचन चैतन्य में लीन होने के बावजूद वह आनंद प्रधान है क्योंकि आप स्थूल से सूक्ष्म में आए सूक्ष्म से आप सूक्ष्म तर में गए हैं तो आप अपने स्वरूप के नजदीक पहुंच चले इसलिए पहले कहा था सविष्टम बहुत बाहर चले गए थे अब बहुत अंदर आ गए हैं जहां से निकले थे उसके नजदीक आए हैं बस एक आवरण लेकर बैठे हैं विद्या को अतः स्वरूपानुभूति नहीं हो रही नहीं सुश्रुति में स्वरूपानुभूति हो जाती यह विद्या रूपी आवरण न होती तो इसे कहते हैं मधुर भुक्त है वो क्यों आनंद प्राधान्य को लेकर के अवस्था त्रेस्य माया कृदस्य मिथ्याभूत प्रतिम्ब कल्पेशु अस्मासु अवस्था कल क्या है मायाकृत है मिथ्या बोध है फिर भी प्रतिबिंब के समान है ऐसे जो हम लोगों में संबंधिता इव परस्पर संबद्ध संबंधक भाव से जो संबंधिता का अनुभव किए हैं वह आपाद्य उसका आपादन करने के बाद असमान भोज ब्रह्म हम सब का अधिष्ठान रूपेण प्रकाशन करता हुआ वह कौन है ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है और कुछ नहीं अधिष्ठान ही है अतो ब्रह्म अवस्था अवस्था इसलिए ब्रह्म में ही अवस्था त्रय विधिवत विद्यमान है तदवंतो जीवा मायावी तदवान जीव को हम क्या कहेंगे इसलिए समस्त जीव ही मायावी है अरे मायावी ही महेश्वर है मायावी है मायावीरम महेश्वर इसलिए कहा माया तो प्रकृति विद्या माइनम तो महेश्वरम ब्रह्म च मायावी ब्रह्म च ब्रह्मणी परिशुद्ध परिकल्पित चिंतन ब्रह्म और ऐसे माया के कारण से तत्वान होकर के जो जीव ये सारी चीजें उस विशुद्ध ब्रह्म का परिकल्पित है इसलिए सर्वम इत्या माया भोजन नो तो तस्व ब्रह्मण अवस्था प्रयातित्व विचित मात्र तुम दर्शित तुरीयम चतुर्णाम पूर्ण तुरीयम वित्पत्ति है इस वित्पत्ति के आधार पर भी ब्राह्मण स्तुरीयत्व निर्देशात प्राप्त सद्वितीय प्राप्त होता है फिर चौथा है वो इसका तो पहले तीन जो थे तीन की अपेक्षा से चौथा सापेक्ष हो गया अतएव भी वास्तव में द्वैत सिद्ध हो जाएगा द्वितीयता होगी अद्वितीयता सिद्ध नहीं होगी ऐसा शंकर नहीं परम विशेषण क्या दिया इसने परम कहा और माया द्वारा ब्राह्मण संबंधी अपनी स्वरूप द्वारा न तत्सबंध तो अस्थित माया के माध्यम से संबंध को लेकर के भी तो द्वैत है ना कहते नहीं स्वरूप तो वो भी नहीं इसलिए वो अमृतम कतो इसलिए कतो निकृष्टता इसे निकृष्टता का शंका ही नहीं हो सकता जिसलिए वो अमृत है अतएव अजय ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ परमात्मा विधिज विषयान प्राश्य भोगान स्थविष्ठान पश्चाचान्यामति समति भवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्म सर्वानेता पुनरपिशन शनि स्थापय चित्ता सर्वान् विशेषान् विगत गुणगण पात्रसौ नस्तुरीय कहते जो विश्वात्मा है विश्व मने जागृत का अभिमानी का जो प्रत्येगात्मा जीवात्मा विधि जो विधिमय धर्म अधर्म उभय से जो जन्य फलक स्वरूप जो प्राप्त शब्द आदि विषयों को स्थूष्टान भोगान प्राश्य स्थूलतम भोग है साक्षात्कार शब्द साक्षात्कार आदि उनको साक्षात अनुभूय पश्चाचान्यान सुमति भगवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्म तत्पश्चात जागृत के बाद पहला पाद जागृत को बता रहा है दूसरे स्वप्न तो उसके बाद क्या करता है ये स्वमत विवान अन्यान सूक्ष्म ज्योतिषा प्राश्य फिर अपने ही वासनामयी बुद्धि से निष्पन्न जो सूक्ष्म का पदार्थ है शब्द रूप रसगंध है जिसके स्थूल स्वरूप नहीं है ऐसे को स्वयं ज्योतिष अपनी ही प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ अनुभव कर लेता है उसके बाद सर्वान एतान पुनरपिशन स्थापित्वा सुशक्ति काल में और क्या करते हैं स्थूल सूक्ष्म समस्त विषयों को धीरे धीरे क्रमशः या अपी कर दिया अक्रम पूर्वक क्रम अक्रम पूर्वक अपनी ही आत्मा में लय कर लेता है स्थापित स्थापना करने के पश्चात जो कर क्या गया सर्वान विशेषान विगत गुणगण सर्वान विशेषान हित ये सघन विशेष जो स्थूल सूक्ष्म विशेष ग्रहण किया था इनको भी त्याग देता है और विगत गुणगण और जो सतरजतम गुणात्म का जो अविद्या उसको भी त्याग करके जो विशुद्ध रहता है कौन वह तुरी है कोई आपका ब्रह्म है न पातो ऐसा वह तुरीय जो ब्रह्मात्मा वह हम सबके जो है प्रविद्या की रक्षा करें देखिए प्रश्न निषेध मुख से किस प्रकार से कर देखने में आपको दोनों श्लोक में कोई अंतर तो लगता नहीं है वहां भी जागृत स्वप्न सुशोभित बताया यहाँ भी जागृत स्वप्न बता रहे दोनों श्लोक एक जैसे लग रहे हैं नहीं नहीं इतना हित्वा वहां तक विशिष्ट होकर के अनुभव कर रहा था या त्याग कर अनुभव करता है किस प्रकार देखिए विधि मुखेण वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया अवलंब्य तदर्थेन उपक्रम तसे तम अर्थ प्रत्ययात्मात्र मुक्तम आनंद विधि मुखेण वस्तु का प्रतिपादन की प्रक्रिया को आलंबन करके तदर्थन च उपक्रम्य तद अनुरूप ही प्रयोजन आदि उद्देश्य को ध्यान रखते हुए उपक्रम किया और तत्व तमर्थ प्रत्यय आत्मात्र उत्तम वह जो तत्व तो है वही तम है इसे तत्व का त्वम से अभेद करता हुआ कथन किया अभिधेय फलोक्तिया संबंध अधिकारण सूचित हो और अभिधेय एवं तत्फल दोनों का कथन के माध्यम से संबंध एवं अधिकारी इन दोनों का पहला श्लोक से कथन किया है अभिजयी है ब्रह्म और फल क्या है जीव ब्रह्म ऐक्यता इन दोनों कथन कर संबंध और अधिकारी को भी जो जीव ब्रह्म ऐक्यता का अनुभव करना चाहता है वो इसका अधिकारी हो गया ये ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिवाद भाव संबंध है प्रतिपाद के ग्रंथ प्रतिपाद्य है ब्रह्म संप्रति निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया में आश्रित समर्थ्य उपक्रम हो ना पहले तद का जो अर्थ है क्या ब्रह्म तद अर्थ का उपक्रम किया और तुम अर्थ ने उपसंहार किया और अब तमर्थ अर्थ से उपक्रम करके तद अर्थ उपसंहार करें समर्थन उपक्रम में तस् तदर्थ असंसार ब्रह्मात्र थी और वो जो तम है जीव है वो क्या है तद अर्थ वास्तविक स्वरूप है असंसारी है ब्रह्मात्र है इस बात को बोध करा रहे अंतर ही है प्रज्ञानाश प्रता नहीं प्रज्ञान का करके ब्रह्म से शुरू किया उपक्रम ब्रह्म से समापन जीवात्मा से कर दिया था और यहाँ पर शुरू करेंगे जीवात्मा यो यम विश्वात्मा जीवात्मा शुरू करके नस्तुर्य में समाप्त कर दे रहे हैं ब्रह्म तत्व में ले जा रहे हैं ये अंतर समझना है यो विश्वात्मा तथा तम अर्थ स्वदा सिद्ध चिंता तो सर्वनामना परामृशक यो यो जो आपका सर्वनामवाचक शब्द है इसके द्वारा दुनिया में जो सुप्रसिद्ध आत्मा जो है जीवात्मा विश्व नाम के भी संज्ञा से शास्त्र में जो सिद्ध है ज्ञाप है उसी को जो चिद्धातु धातु चिद्धातु धारणा धातु अधिष्ठान चैतन्य को प्रतिबिंब रूपे न धारण करने वाला अधिष्ठान होने से चिद्धातु कर दिया तस्वीन जागृतिम जागृतम आरोपितम उदाहरती वास्तव पदार्थ में भी जागृत है नहीं वो भी आरोपित ही है इस बात को बताने के लिए कहा विश्वात विश्वम पंचीकृत पंच महाभूत पर कार्यात्म स्थूलम जगत वैराजम शरीरम विश्व क्या है पंचीकृत पंच महाभूतात्मक कार्यात्मक स्थूल है ये जगत विराट है अथवा दृष्टि में शरीर है तस्मिन जागृत उसमें जागृत होने पर अहम मम इति अभिमानवान अहम और मम ऐसे अभिमान वाला हो जाता है दो श्लोकों का हम टीका देख रहे हैं बाकी जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ थोड़ी देखी जाएगी इन्हें सोचे कि टीका पूरा पढ़ाएंगे अच्छा तस्वीन जाति क्यों ऐसा हुआ तो कहते कि बात ऐसा है अर्थ क्रिया उपन्यास्य थी अहम हमारे अभिमान आने का कारणीभूत अर्थ क्रिया निष्पादन करते हुए कथन कर रहे हैं विधीयते विधीर धर्मो नए अनुबंधन तत्व व्यतिरिक्त अविधि अधर्म विधि से उपलक्षित है नए से युक्त अविधि अर्थात धर्म और अधर्म दोनों लेना है ताभ्याम धर्म अधर्माभ्याम अविद्या काम प्रसूताभ्याम विषय शब्दादि योजन्यंत है अविद्या और कामना से उत्पन्न होकर के उसी धर्माधर्म के कारण से ही ये समस्त विषय जो शब्द आदि उत्पन्न होते हैं तान भोग योग्यतया भोग शब्द भोग मने सुख दुख नेत्र का साक्षात्कार उसके योग्य कौन है शब्द आदि क्योंकि आपका सुख मिलेगा किसे शब्द आदियों से दुख मिलेगा भी शब्द आदियों से इसलिए भोग शब्द के योग्य है वो क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ना भोग मिलता है साध्य साधन अभेद कर दिया सुख दुख अन्य और साक्षात का भोग का साधन बने शब्द रूपाधि विषय इसलिए विषयों को भी भोग शब्द से कह दिया जा रहा है तान भोग योग्यतया भोग तान आदित्यादि अनुग्रहित द्वार का बुद्धि परिणाम गोचर होते और वे आदित्यादि के द्वारा अनुग्रहित जो बाहेंद्र चक्षुरादि हैं इनके माध्यम से चक्षुरादि द्वारा क्या हो रहा है द्वारा बुद्धि में परिणाम हुआ बुद्धि परिणाम का विषय होकर के अनुभूत होते हैं इसलिए स्थूल दमान राष्ट्रीय साक्षात अनुभूया से तो अयम प्रत्यत्मा ऐसे शब्द विषयों को साक्षात अनुभव करके ये जो है प्रतीकात्मा रहता है जागृत तत्र स्वप्नावस्था मध्यस्थी उसी प्रत्येगात्मा में स्वप्न भी आध्यात् के आरोप थे पश्चात जागृत हेतु कर्म क्षय अनंतर पश्चात में जागृत के कारण जो कर्म था वो क्षय होने के अनंतर अनंतरम स्वप्न हेतु कर्म उद्भवे सती स्वप्न कारणीभूत जो कर्म है उसको उद्भव होने के बाद स्थूल विषयभ्यो अन्य स्थूल विषयों की अपेक्षा से जो अन्य है कौन अस्माद एव हेतु तो इसी कारण से उन्हें हम क्या कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं बाह्यन्द्रियाणाम उपरत क्यों बाहेन्द्रिया उपरत हो चुकी विद्या काम करो प्रेरित आत्मीय मत प्रभाव देव क्योंकि अपनी ही जो अविद्या है उपरत अविद्या पद अविद्या काम कर्म इनसे प्रेरित अविद्या का कार्य काम काम का कार्य कर्म पर ही उन अपने ही कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर अपनी ही बुद्धि के द्वारा निष्पन्न मन के द्वारा तैयार किया गया पैदा कर लिया गया जो उसे उत्पन्न हुआ प्रसूतान अंत करणात्मनो प्रभाव प्रभाव प्रसूत उत्पन्न है कहा से अंतकरण रूपी आत्मा अंतकरणात्मा से उत्पन्न हुआ अंतकरण आवचिन चैतन्य से निष्पन्न है इसलिए कैसे है वो वासनामयान जो बाहर है नहीं वासनामय वासनामया आदित्यादि ज्योतिषा एकदम अस्तमित और यहाँ लेकिन उसको प्रकाशन भी कौन करेगा आदित्य ज्योतिष चक्षुर आदि के द्वारा बुद्धि से प्रकाशित नहीं हो रहा केवल बुद्धि से प्रकाशित हो रहा केवल बुद्धि से कैसे प्रकाशित हो रहा है तब कहते हैं कि आत्मभूति नहीं ज्योतिषा अपना स्वर्ग होता प्रकाश से ही हुआ विषय ग्रदान अनुभूय ऐसे विषय बना लिए कि उन सूक्ष्म वस्तुओं का अनुभव करने के पश्चात अपंचकृत पंच महाभूता तत्कार्यात्मकम सूक्ष्म प्रपंचम क्योंकि कैसे है अपंचकृत पंच महाभूत का कार्य कि मन ने पैदा किया ना मानस जो सृष्टि है वो अपंचकृत पंच महाभूतात्मक कार्य है जो स्वप्न में आप देखते हैं वो पंचीकृत पंच महाभूतात्मक नहीं है इसलिए अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए वृष्टि में वो आप कह दिया उसको तेजस और समष्टि में कहेंगे हिरण्य गर्भ बाह्य इंद्रिय का तो इसलिए भूतात्मक कार्य तत्कार्यात्मकम सूक्ष्म प्रपंचम हिरण्य गर्भ शरीरम स्वप्न स्थान च अभिमन्यमान ऐसे स्वप्न शरीर को ही स्वप्न स्थान में अभिमान करता हुआ तेजस भवतीर्थ वही प्रत्येगात्मा में तेजसत्व का वृष्टि में अभिमान हुआ और समष्टि में हिरण्य गर्भता का अभिमान होता है सुषिप्त कल्पना दर्शयती उसी जो प्रत्यात्मा में सुषिप्त की भी कल्पना हो रखी है इसलिए कहते हैं उसको दर्शा स्थूल सूक्ष्म विभाग स्थान द्वयावच्छिन्नान प्रगदान एतान अशेषान अभी स्थूल सूक्ष्म विभाग से विभक्त स्थान द्वय से परिच्छिन्न जागृत और स्वप्न स्थान से परिच्छिन्न होकर अनुभव हुआ जो प्रकृति जितने भी है उन समस्त विशेषान विशेषान उपाधि द्वय भूतान समस्त विशेष जो कर्परा शब्द स्वरूप थे जो की उपाधि द्वय से रूपा था वह अनुपाधि द्वय द्वार स्थान द्वय संचार प्रयुक्त प्रयुक्त श्रमोद्भव अनंतरम कहते अनुपाधि विशेषान उपाधि द्वय भूतान और अनुपाधि द्वय द्वारक स्थान तो यदि भी उपाधित्व है वो लेकिन किसकी उपाधित है वो अनुपाधि रूपा चैतन्य का है जागृत भी अनुपाध्यात्मक जो चैतन्य का कई बार ऐसा होता है एक उपाधि दूसरे उपाधि का अवच्छेद अवच्छेद भाव बन जाते हैं इसलिए भाषा सतर्क होकर बोल रहे हैं जैसे घट भी एक उपाधि है आकाश भी एक उपाधि है और घटावचिन आकाश हो गया एक उपाधि दूसरा जो उपाधि परिचन्न हो भी नहीं हुआ ऐसे ही ना सोचिए आप ये स्थूल सूक्ष्म तो उपाधियां हैं लेकिन जिनको परिचन्न कर रहे हैं किनको उस जीवा पर जीव चैतन्य हो वह चैतन्य अपरिचन्न स्वरूप अनुपाधि स्वरूप है इसे कहते हैं ये उपाधि भूत तो है किन्तु अनुपाधि को लेकर के व्यवहार अनुपाधि द्वारा द्वार द्वय संचार तद द्वारा ये भी क्या है जागृतावचन चैतन्य और स्वप्नावचन चैतन्य जिसको जो तेजस और विश्व नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था या हिरण्य और विराट नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था तादृश के माध्यम से ये भी दोनों स्थानों में संचार करने वाले हो गयी संचार करके उस संचार से प्रयुक्त जो श्रम है भयंकर थकान आया थक जाने के बाद क्या होता है अनंतरम तस्या परिजीर्षायाम उसका भी परिहार करने की जो इच्छा हुई मैंने उस तस्या मैंने उस श्रम का परिहार करने की इच्छा जो होती है शनिर अनुक्रमेण अक्रमेण शनि इसलिए कह रहे हैं अभी भी लाओ पुनरअपी का शनिर अभी मैंने चाहे कहीं बार क्रम से जिस क्रम से उसने उत्पन्न किया उसके विपरीत क्रम से लय करता हुआ आता है और कई बार एक सब सब स्वाहा हो जाता है अक्रम स्वप्न में जागृत में भी क्या है बहुत थके हैं तो क्या आता है जैसे लेटते हैं बस लेटने की देरी और कई तो लेटने की भी जरूरत है बैठे बैठे ही कौन से क्रम से हम जा रहे हैं जिस क्रम से जगे थे आराम से धीरे धीरे जगे आप किया वो किया फैस होकर के एकदम देखते दुनिया को क्रम से आ रहे ना बाहर वैसे क्रम से दौड़े गए यहाँ बैठे जो सोते उनके लिए क्या खाओगे कौन से क्रम से जा रहे हैं इसलिए क्रम और अक्रम दोनों ही होता है व्यवहार और कई बार जब नींद नहीं आती तो बड़ा क्रम से आपको जाना पड़ता है नींद में कैसे आएगा सोच रहे हैं आप और धीरे धीरे लय करने की चेष्टा करते कि इंद्रियों को कोशिश करते हुए खींचो भीतर बाहर हो रहा है सो अंदर लो सुन रहे कहा तो रुई ठूसो दरवाजा बंद करो खिड़की बंद करो ताकि सुना बंद हो जाए इस प्रकार से क्रमश आप अंदर जाते हैं और कभी आप क्रम पर चले जाते घर बैठे बैठे हो जाता है इसे जागृत से सुषुप्त जाना हो या स्वप्न से भी सुशुद्ध में जाने में कोई क्रम का कोई निश्चय नहीं इसलिए कर दोनों ही बातें देखने में मिलता है अनुक्रमेण अक्रमेण स्वात्मी अज्ञात कारणात्मनी स्वात्मा कैसे वहां पर अज्ञान अवच्छिन्न है अविद्यावच्छिन्न जैन है ऐसे जो कारण रूपी आत्मा में स्थापित इसलिए कहते स्थूल शरीर सुशरी शरीर कारण शरीर करते इसलिए कारण आत्मनी कारण रूपा शरीर में स्थापना करके उपसंहृत्य स्थापना क्या करेगा पहले जो भी बात त्रिजोरी बंद है क्या उसको अंदर रख करके तार लगा ले फिर बाहर जब चाहे तुम निकाले शब्द रूप को ऐसा कुछ नहीं स्थापित इसलिए अर्थ करते हैं स्पष्ट करते हुए भाषाकार कह रहे हैं देखिए स्थापित का मतलब उपसंहार कर लिया जो है वही है अपने को आप इंद्रियों को उपसंहार कर लेते हैं यह घटपटारी को अंदर बंद कर दे रहे हैं और बैठे हुए आंख खोल के तो स्वप्न में आ जाएंगे आप वस्तुओं को बंद करने से स्वप्न में नहीं जाओगे वस्तु जहां तक वहीं पड़े रहे दो आप इंद्रियों को संहार कर लो तो स्वप्न में आप जाओगे और स्वप्न पदार्थ में जाए वहीं पड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन वहां में मन को संहार कर दोगे स्वप्न पदार्थ क्या करेंगे आप जब मन नहीं देख रहा मन नहीं बनाया था मन ही देखना बंद कर दिया वो है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे जागृत की वस्तु भी है या नहीं क्या फर्क पड़ना है जब सो जाते हो सोते वक्त तक के लिए नींद आए तक का आपको परेशानी है ना नींद आ जाने के बाद क्या मालूम मच्छर काट रहे खटमल काट रहे कौन काट रहे क्या हो रहा कुछ पता नहीं ये जागरण की वस्तुओं से आपका कोई संबंध नहीं होता न स्वप्न की वस्तुओं से कोई संबंध नहीं कारण वह वस्तुओं को हमने हटाया नहीं वस्तुओं को अन्यत्र स्थापना नहीं किया किंतु अपने आप को संहार कर लिया वस्तुओं के साथ जो संबंध वृत्ति के माध्यम से हो रहे थे उन वृत्तियों के द्वार जो निकलता है द्वार को बंद कर दिया भाव ही उपसंहार कुछ नहीं है इसे उपसंहृत्य अव्याकृत प्रधान संराज्यो भवदीत्यर्थ अव्याकृत रूपा होकर के अविद्या प्रदान होकर के और नाम से का रहता है कौन वही जीवात्मा तो सीव स्थान विशिष्ट से नाम प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम इत्यादि से मांडव उपनिषद में कहने वाले हैं वही प्रत्येगात्मा जो स्थान पर से विशिष्ट होता था उसी को कहा जाएगा नान्त प्रगण इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र प्रसूत प्रमाण ज्ञान समारूढ़ इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र के से उत्पन्न प्रामाणिक ज्ञान का जब आपकी बुद्धि में समारूढ़ हो जाए तो सर्वान अर्थ विशेषां कार्य कारण स्वरूपान प्रमाण ज्ञान प्रभाव देव हित्वा समस्त अनर्थ विशेष जितने विशेष तो ज्ञान है अनर्थ रूपा है ये कार्य कारणात्मक जगत है इसको अपने प्रामाणिक ज्ञान से उत्पन्न सामर्थ्य के आधार पर हित का त्याग करके निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान परमात्म स्वरूप पर निष्पन्नम तत्व कदि यदि हित्वा इत्यादि तब क्या उत्पन्न होता है और आपका अपना जो निरुपाधिक है परिपूर्ण परिज्ञान परमात्म स्वरूप है वह निष्पन्न होता है उसी को यहाँ हित इत्यादि चतुर्थ पाल के द्वारा कहा गया है प्रथम श्लोक प्रदर्शित प्रमाण से प्रत्यु प्रवाह प्रशमनात्मक प्रयोजन स्थान परिकल्पनातीत पर वस्तु प्रयुक्त प्राप्त द्वितीय न प्रथम श्लोक के द्वारा जो प्रदर्शित था प्रमाणों के द्वारा प्रत्यु प्रवाह प्रशमनात्मक प्रमाण से प्रदर्शित प्रमाण से प्रत्यु प्रवाह प्रशमनात्मक प्रमाण कौन इंद्रिया मन बुद्धि ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है ना अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण इत्यादि का साधनीभूत तो वस्तु ही है इनके जो है बिना रोक टोका अनंत कालों से चले आया हुआ है अनेक योनियों में भटकते हुए भी ये इंद्रिया कभी रुक नहीं रही काम करती ही रहती लगी हुई है जगत में स्वप्न सुशुक्ति जागृत चक्कर काट काट आदि अंत है नहीं इसका ठिकाना ही नहीं पता लग रहा इसे प्रदर्शित जो प्रमाण है ये प्रत्युग प्रवाह है इसका प्रशमन इसका प्रशमन रूपा क्या है प्रयोजन स्थान प्रकल्पना अतीत स्थान की प्रकल्पना का से परे ऐसा जो पर वस्तु है उससे प्रयुक्त ही संभावना है प्रशमन प्रयुक्तम प्रशमन संभाव्य देती अर्थ है द्वितीय न इसलिए करके प्रार्थना किया है वही ब्रह्म हमारी रक्षा कर सकता है वही हमें शांति प्रदान कर सकता है वही इंद्र को प्रशमन भी कर सकता है क्योंकि वैश्य जो बारम्बार आता है वही बात पात हुई थी नौ आसमान व्याख्या तृत्व श्रोतृत्व जा मुझे व्याख्याता को और इन श्रोताओं को सभी को जो रूपेण व्यवस्थितान पुरुषार्थ परिपंथ कृत कारण निराश पुरस्म परम पुरुषार्थ का परिपंथी मन विरोधी विभिन्न प्रकार के रोग आदि इन सभी का जो कैसे करना है परिपंथ कृत जो कारण निराश परिपंथ कृत जो साधन है इनको निराश पूर्वक परमात्मा पराकृत अशेष कल्पनो परमात्मा समस्त कल्पनाओं को नष्ट करके नित्य विज्ञप्त स्वभाव रूपेण मोक्ष प्रदान द्वारा तो हेतु ज्ञान प्रदान च उसका कारणीभूता ब्रह्म विद्या के प्रदान के द्वारा परिरक्षता इत्यर्थ हम सब की रक्षा करें ये इसका तात्पर्य है अब भाष्यकार कहते हैं ओम इतक्षण इदम सर्वम दस व्याख्यानम ओम अक्षर इदम सर्व पहला मंत्र मांडिक के उपनिषद को उसकी टुकड़ा लिए हुए हैं प्रतीक रूप में ओम अक्षर इदम सर्वम वह अक्षरीय सब कुछ है इत्यादि इत्यादि मंत्रों का ही व्याख्यान करने के लिए आरंभ किया जा रहा है तो शुभ व्याख्यान वेदांतार्थ सार संग्रभूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम ओम इतक्षरम इत्यादि है वेदांतार्थ वेदांत क्या है शास्त्र जो उपनिषद शास्त्र है इसी को वेदांत कहा जाता है वेदांत का जो अर्थ क्या है वेदांत में प्रोक्त पदार्थ क्या क्या है उनमें विचारणीय पदार्थ ये साफ समझ लो एक तो लक्ष्य उदा दूसरा उसको प्राप्त अनुभव करने योग्य अधिकारी निश्चित है टीका शास्त्र वेदांत शब्दार्थ तस्य अर्थ अधिकारी निर्णय गुरु उपसदरम पदार्थ द्वय जीव और ब्रह्म तदैक्य विरोध परिहार साधन क्या इतनी चीजें अधिकारी निर्णय एक पद है गुरु प्रसलन दो पदार्थ द्वय दो हो गया ना चार जीव ब्रह्म चार हो गया ना तदैक्य पांच विरोध परिहार विरोधों का परिहार करना छह साधन सात फल आठ हमने वहां जीव ब्रह्म दो कर दी इसलिए आठ हुआ नहीं तो दोनों को एक पदार्थ है ना जीव ब्रह्म ऐक्यता फल है जीव ब्रह्म पदार्थ द्वैत को एक रूप में लोगे तो सात धाग हो जाएगा सात तत्व का विचार होता है प्यार तत्व का समझो अधिकारी निर्णय एक हुआ गुरु सदन दो हुआ पदार्थ द्वय विवेचन तीन हुआ तदैक्यता चार हुआ विरोध परिहार पांच हुआ साधन छह फल सात इन सात तत्वों को हम कहते हैं वेदांतार्थ वेदांतों में विचारित अर्थ पदार्थ विषय विचार उनका सार क्या है वास्तव में जीव ब्रह्म का ऐक्यता वेदांतार्थ सार सार माने जीव ब्रह्म ऐक्यम जीव पर ऐक्यम उसका संग्रह संग्रह का मतलब वो नहीं समझना जैसे अन्यत्र आप संग्रह का अर्थ क्या करते हैं पर संग्रह में संग्रह शब्द कर क्या है हाँ, और संग्रह में संग्रह शब्द कर क्या विस्तरेणोपदिष्टा नाम अर्था नाम सूत्र भाष्य हो इत्यादि कार्य का श्लोक लिखाया हुआ है तो वो नहीं लेना क्या क्योंकि मंत्र थोड़े सूत्र भाष्य में कहा बात का संग्रह करेगा है इसलिए वो नहीं है यह संग्रह सम्यक ग्रह मान ज्ञान इस सार का सम्यक ज्ञान मैंने ब्रह्म विद्या सारख्य जीव ब्रह्म इसमें प्रतिपादन करने वाली ब्रह्म सम्यक ग्रह संग्रह अर्थात संशय विपरी आदि से प्रतिबंध विद्रास करते हुए तदुपाय जो उपदेश है उसी को यहाँ संग्रह जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को हम कहते हैं वेदांतार संग्रह भूतम किम इदम ग्रंथम यह ग्रंथ क्या है वो भी केवल बारह मंत्र नहीं उपनिषद मात्र नहीं देना यहाँ पर क्रम से प्रकरण चतुष्ट मैंने प्रकरण चतुष्ट विशिष्ट द्वादश मंत्रात्मक उपनिषद को लेना क्योंकि हम क्या प्रकरण पर व्याख्या करने नहीं जा रहे हैं भाषिका हाँ इसलिए आनंद गिरिकार कहते देखो यद्यपि यह प्रकार प्रकरण प्रकृशास्त्र दे देना कहते कि नहीं प्रकरण लक्षण से चतुर संपूर्ण रूपेण कैसे घटेगा कहते हैं यद विशिष्ट रूप नहीं करता है तद विशिष्टम कर इसलिए अक्षरम कौन है ओम इत अक्षर इत्यादि आरंभ इसलिए ओम इत अक्षर इत्यादि उपनिषद मंत्र का आरंभ होता है भाष्यकार अपने अवतरणिका दे रहे हैं संबंध भाष्य जोड़ रहे हैं यहाँ पर विशेष रूपेण अरे गुरु के पास जाना श्रोत्र ब्रह्म ब्रह्म बार सुने हैं है? कभी किया नहीं ना गुरु प्रसोधन पता क्या चलेगा तो कभी गुरु के पास गए ही नहीं तो जानेंगे कैसे गुरु प्रसोधन क्या होता है, है? कभी जाओ तो पता आजकल हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रहेगा गुरु प्रसोधन क्या होती प्रैक्टिकल हो जाता है ना जीवन में अतएव न पृथक संबंध आविधि आ रही इसीलिए इस प्रकार चतुर्थ विष्मांड के उपनिषद के लिए अलग से हमें संबंध अभिधेय प्रयोजन आदियों को कथन करने की अपेक्षा नहीं है यानी तो वेदांत संबंधा प्रयोजन प्रयोजना तानीय वे भवित मरंदी इसलिए जो जो अन्यत्र वेदांत शास्त्र में कहा गया संबंध विधेय प्रयोजन आदि है वे ही यहाँ पर भी संबंध विधेय अधिक प्रयोजन अधिकारी आदि कथन उचित होता योग्य ही है ऐसा मानना चाहिए तथा भी फिर भी प्रकरण व्याख्या संक्षेप वक्तव्याणी प्रकरण का व्याख्यान करने की इच्छा से संक्षेप इन चतुष्ट का विकथन करना जरूरी है संबंध अभिधेय अधिकारी प्रयोजन इनका कहना भी जरूरी है क्योंकि हम केवल उपनिषद पर व्याख्या नहीं करने जा रहे हैं प्रकरणों पर भी बोलने जा रहे हैं इसलिए उपनिषद अधिकारी ही प्रकरणाधिकारी भी है ये स्पष्ट करना पड़ेगा तो आते कहते हैं यद्यपि यानी ये तो वेदांत संबंधा में प्रयोजना भवित मरती तथा प्रकरण व्याचिक्यासन संक्षेप तो वक्तव्यानि संबंधी विधि प्रयोजना इत्यादि से कहते हैं यहाँ पर श्लोक में प्रकरण का जो श्लोक दिया उत्तरार्ध में टिप्पण करने श्लोक में फर्क कर दिया है पूर्वार्ध मूल में था शास्त्रीय देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतर स्थितम उत्तरार्थ मूल में आनंदगिरी कारण लेकिन उत्तरार्थ को टिप्पण कर दिया प्रकरण नाम ग्रंथ वेदम माहुर श्लोक पूरा कर दिया इस तरह से छंद बैठ नहीं रहा है उन्होंने पूरा तो इस तरह से कर दिया है लेकिन श्लोक ठीक नहीं उत्तरार्थ आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेदो विपश्चित वही श्लोक छंद बिल्कुल लो यदि अक्षर संख्या देवी पूरा कर दिए है सोलह अक्षर पूरा हो रहा है लेकिन अक्षर संख्या पूरा का काम चलता है और अगर मगन तो देखना पड़ेगा गुरु लघु हिसाब की तरफ से बैठाना पड़ता है ना वो बिगड़ रहा है पूर्वार के साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है पूर्वार के साथ सही नहीं बैठता है इसलिए टिप्पण को सुधार लेना अपने तरफ से है ना ये है बड़ी महिमा गाते हैं टिप्पण की कई जगह लेकिन है तो टिप्पण बहुत ही गजब और कई जगह ऐसा है कि बस पूछे फालतू भी है और कई जगह और कई जगह बिल्कुल गलत है टिप्पणी ऐसे कई जगहों में आप देखेंगे ऐसा अद्भुत टिप्पण है वो ना होता तो शायद मूल समझ ही नहीं सकता इसे इसको सरकार ने भी सम्मान किया इस टिप्पण का विद्यावाचस्पति जो बोलते हैं बड़े महाराज जी का आज ही निर्वाण दिवस है उनका उनको विद्यावाच तो पुरस्कार सरकार की तरफ से केंद्र सरकार ने दिया था राजीव गांधी का समय उन्नीस सौ पचास तो इतना इस टिप्पण को माना पंडितों ने वहां पर जो है इसकी समिति समिति होती है जो चोड़ावणी पुरस्कार वगैरह राष्ट्रपति पुरस्कार जो संस्कृत भाषा के ग्रंथों को लेखकों को इत्यादि को दिया जाता है उसकी एक समिति है उस समिति के चेयरमैन थे पट्टाग्राम शास्त्री ब्रह्म रूप में मान सक रहे हैं तो वो उनकी जो है अध्यक्षता में सब बैठे थे तो सब चिंतन हुआ चिंतनवादी बने को ग्रंथ आते हैं प्रतिवर्ष लोग भेजते हैं ग्रंथ बनाने वाले जितने सब भेज देते हैं अपना तीन तीन कॉपी भेज देंगे समिति के पास उसमें से साल भर जो आ गया वो किसने किसी पंडित के भेज देते हैं तुम तो इसको पढ़कर विश्लेषण करके लिख दो भाई कैसा है ग्रंथ कहीं इधर तो उधर से निकाल के नकल तो नहीं किया हुआ कहीं दस जगह से निकाल करके नया पुस्तक बना देते हैं लोग वैसे बना हुआ कि नहीं है ऐसे बेच चार करें तो, विषय के लोगों को भेज दिया जाता है इसको भेजा गया था बहुत बड़े विद्वान के विद्वान के वेदांत के सुब्रमण्य शास्त्री वो समिति के सदस्य थे तो जब उन्होंने टिप्पणों को पढ़ा तो उन्हें के बहुत ही गजब है बोले मेरे को भी दिन में जितने भ्रांति सब दूर हो गई कई जगह उनको भी संशय था टीका वगैरह के आधार पर नहीं लग पाता था ठीक ठीक से वो भी उन टिप्पणों से दूर हो गए उन्होंने इसको कहा इससे विलक्षण कोई टीका बना ही नहीं सकता टिप्पण नहीं बना सकता तो इसलिए फिर बाद में अन्य पंडित लोग भी बैठे पीछे वेचन हुआ अन्यों के पास भी गया प्रति इसीलिए तब जाके इसके पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत पुरस्कार विद्या पुरस्कार उसके लिए मल्लेश्वर जी के प्रधानमंत्री से लिया है बीवी रखी होगी देखने में और मिलेगा आपको सोने की थाली उसके ऊपर लिखा हुआ और एक इसके अंदर ग्लास के अंदर बंद पड़ा बहुत बढ़िया ढंग का बना हुआ है तो दिया गया फिर दो चांदी के डॉलर थे उसके ऊपर मैंने विष्णु जगनगिरी जी का फोटो बना मूर्ति जैसे एक पे एक उनका नाम और उनका किया हुआ कार्य गोविंद प्रसाद ने टिप्पण कृतम इत्यादि संस्कृत में लिखी हुई ये सब साथ में दिए थे रह दिया है तो ही विलक्षण से कोई संशय नहीं है कई जगह भले ही थोड़े बहुत जगह में गलत है उससे क्या है तो होता ही है लेखक कर प्रमाद भी हो सकता है उन्होंने ही ऐसे लिखा था क्या पता जो भी है लेकिन अच्छा तो है ही है तो इसलिए कहते कि देखो यहाँ पर उसको ठीक कर लेना चिपन को इसलिए मैं बताया था आओ हाँ, प्रकटम नाम ग्रंथ वेद बना लेना तत्र प्रयोजन साधना विव्यंजक अभिधेय संबंध में शास्त्र पारंपरण विशिष्ट अभिधेय प्रयोजन भवती भाषिकार कहते हैं तथा प्रयोजन साधना विव्यंजक अभिधेय संबद्ध शास्त्र प्रयोजन वाला साधन को अभिव्यक्त करते हुए विशेष संबद्ध होने होने वाला शास्त्र प्रयोजन क्या मोक्ष तदवान साधन कौन है ब्रह्म ज्ञान उसको अभिव्यक्त करते हुए ब्रह्म से संबद्ध ब्रह्म विषय का यह शास्त्र अतएव पारंपरिय विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन प्रवृत्ति विशिष्ट जो संबंध विशिष्ट मैंने शास्त्रांतर संबंधात इतो विलक्षण शास्त्रांतराज संबंधों से विलक्षण को कथन सकता है संबंध संबंध मान विशिष्ट संबंध है ना यद्यपि प्रतिपादित प्रतिपादक संबंध से सर्वत्र एकत्र तत्र विशिष्टत्वोक्तिर असंगता यद्यपि प्रतिपादित प्रतिपादक संबंध तो सभी ग्रंथों को होता ही है फिर आपने विशिष्ट क्यों जोड़ रहे विशिष्ट संबंध ने क्यों कह रहे हो तब कहते बात ऐसा है फिर भी तथापि अनियोगी प्रतियोगी भेदेन संबंध भेद माद यही अन्यत्र सर्वत्र क्या होता है अनियोगी प्रतियोगी भेद होता है यानी यहाँ पर जो ब्रह्म विद्या है वही ब्रह्म है यह अनियोगी प्रतियोगी भेद नहीं है की भेद निरूपित संबंध है पारमार्थ की कोई भेद ही नहीं तो संबंध कहां से होना है अभिधान और अभिधेय में पारमार्थ की कोई भेद नहीं है के भेद को एकदम संबंध खत्म कर रहे हैं अतएव यहाँ पर कहते प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूपी अन्य शास्त्र में कहे जाने वाले जैसे सामान्य संबंध वैसा हुई यहाँ नहीं है ये विशिष्ट संबंध है ये अभेद संबंध यहाँ जो संबंध है भेद निष्ठ संबंध नहीं है अभेद निष्ठ संबंध है अभेद निष्ठ परिकल्पित आध्यासिक भेद निरूपित संबंध है अभेद निष्ठ परिकल्पित जो आध्यासिक भेद है तन्निर्मित संबंध विशेषण निकला जिसका नाम विशिष्ट संबंध कहना पड़ रहा है इसलिए भाष्यकार कहते कि देखो उसका भाष्यकार की बात है विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन भवती इसलिए विशिष्ट संबंध वाला है अभिधेय वाला है और प्रयोजन वाला है अभिधेय जीव ब्रह्म ऐक्यता क्योंकि जो शुद्ध ब्रह्म है उसी को ऐक्य रूपा ब्रह्म को ही लेना है अभिधेय उसका प्रयोजन क्या है मोक्ष है नीचे टीका कर देखो सत्यम मोक्ष साधन ब्रह्मात्म ज्ञान ठीक कह रहे आप मोक्ष का साधन ब्रह्मात्म ज्ञान है तत्व जनक शास्त्रादि उसका जनक कौन है शास्त्र तत्भाविन ज्ञान व्यवधान मोक्ष फल भवती शास्त्रादि इसे उस दृष्टिकोण से विचार कर देखा जाए तो शास्त्र ज्ञान का व्यवधान पूर्वक मोक्ष वाला जो ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है इधर बीच में शाप आ गया तथा तो यद्यपि ऐसा आप व्यवधान दिखा सकते हैं भेद को व्यवधान का मतलब क्या भेद दिखा रहे हो आप जीव ब्रह्म एकात्म ज्ञान जो है ये मोक्ष है उसका साधन है शास्त्र शास्त्र और मोक्ष के बीच में शास्त्र जन्य ज्ञान त्रिपुटी आ गया शास्त्र जन्य ज्ञान अलग है उस ज्ञान का ही अनुभूति स्वरूप जीव ब्रह्मक्यता है, हाँ? और साधन बहुत अलग है शास्त्र तो शास्त्र शास्त्र जन ज्ञान और तक अनुभूति स्वरूप जो है होता ज्ञान है मोक्ष रूपा ज्ञान है तीन अलग साधन साधन जन्य जो साधकात्मक ज्ञान और साधक जन्य जो साध्यात्मक ज्ञान है तो त्रिपुटी है कैसे आपने विशिष्ट संबंध बोल दिया तब कहते हैं बात तथा ब्रह्मणा विशील संबंधो वेदांता नाम एवं ब्रह्म विषय के साथ संबंध वेदांत का ही इष्ट होता है अन्य किसी प्रकार संबंध नहीं मान सकते तब कथम अभिदेश संबद्ध शास्त्र आदि अभिदेश संबद्ध शास्त्र कैसे कह रहे हो आप क्योंकि अभिदेश भिन्न शास्त्र ही नहीं है आप जो शब्द को लेकर जाल विचार है साधन साधक साध्य भाव साधन शास्त्र तजन्य ज्ञान जो है वो साधक ज्ञान है उस साधक ज्ञान से साध ज्ञान मोक्ष हो रहा है ये त्रिपुटी की आप परिकल्पना कर रहे हैं वास्तव में जो ब्रह्म विद्या है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही ब्रह्म ज्ञान है अलग है कोई तीन चीज तो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या ये तीनों अभिन्न वस्तु है कि शास्त्र क्या है ब्रह्म विद्या प्रया शास्त्र और ब्रह्म विद्या क्या है ब्रह्म विद्या ब्रह्म ही है अलग तो है नहीं जैसे अन्यत्र क्या होता है यज्ञ विद्या है यज्ञ संबंधी विद्या है विद्या आपने पाया तो यज्ञ हो गया क्या नहीं वहां आपको अलग यज्ञ करना पड़ता है इसलिए वहां पर यज्ञ विद्या जब मैं कहता हूँ यज्ञ अलग है विद्या अलग है धनुर विद्या आपने सीखा तो क्या फायदा होगा इन धनुष तो चलानी पड़ेगी बिना है तो बांध तो चलेगा नहीं विद्या से कहा चलेगा वो वहां साध्य तो साध्य वेद हो सकता है साधना साधक साध्य भेद बन जाएंगे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को प्राप्त कर कुछ और करना ही नहीं पड़ता ब्रह्म विद्या हासिल हुई तो ब्रह्म ही अनुभव में आ गया इसलिए ब्रह्म विद्या साधन ब्रह्म ज्ञान रूपी साधक ज्ञान और ब्रह्म रूपी जो साध्य स्वरूप ऐक्यता ये तीनों अलग चीज है ही नहीं अवस्था भेद से परिकल्पित अवस्था भेद से व्यवहार कर रहे हैं